अहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे सम्मान्य विद्वद्गण धर्म प्रेमी सज्जनों व्यक्ति को अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए कितना सावधान रहना होता है ये सीख लेना चाहिए एक प्रभाव इस शिक्षा को बढ़ाने वाला इस शिक्षा की ओर अग्रसर करने वाला इस सृष्टि का ज्ञान विज्ञान है कितना सचेत सावधान व्यक्ति को रहना चाहिए इसको विकसित करने वाला इसको आगे बढ़ाने वाला विज्ञान इस सृष्टि का विज्ञान है सृष्टि की रचना इसको विकसित करने वाली है अर्थात जो कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं उन्नत हो जाऊं मैं सफल हो जाऊं ईश्वर की दृष्टि से मैं कृतकृत्य हो जाऊं उस व्यक्ति को इस अपनी स्थिति को उपलब्ध करने के लिए ये ईश्वर की सृष्टि की जो रचना है ये सचेत करती है ये व्यक्ति को अग्रसर करती है इससे व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है आप ये देखेंगे कि इस शरीर की रचना इंद्रियों की रचना और वृक्षों की सोना चांदी धातुओं की रचना पृथ्वी की रचना जब कभी आप देखेंगे कि ये कैसे हो गई ये रचना कैसे हो गई रचना करने वाला व्यक्ति कितना बुद्धिमान होगा कितना विद्वान होगा उसकी कल्पना व्यक्ति नहीं कर पाता कितना होगा और वो देखता है मैं तो कुछ भी नहीं जानता अपनी व्यक्तिगत <clears throat> शक्ति सामर्थ्य से मैं एक तिनका नहीं उठा सकता मेरा तो इतना बल इतना ज्ञान है वो ये देखता <clears throat> तो मैं कितना सावधान रहूं जिससे इस रचना बनाने वाले की आज्ञा के अनुरूप मेरा व्यवहार हो मेरा ज्ञान विज्ञान हो मेरी उपासना हो वो ये देखता है रणवीर जी क्या समझ में आया है कुछ आया या ऐसे बोलते चले जाए क्या आया व्यक्ति सावधान होकर के यह देखता है कि जो सृष्टि का बनाने वाला है जो उसकी बुद्धि कोई कल्पना नहीं कर सकते तो मैं उसकी आज्ञा के कितना अनुकूल चल रहा हूँ कितना ठीक से व्यवहार कर पाता हूँ ये व्यक्ति सावधान होकर देखता रहता है उसके साथ एक भाव जुड़ा हुआ रहता है न्याय का वो भाग जुड़ता है कि सृष्टि की रचना करने वाला जो व्यक्ति है वह न्यायकारी है जब वो न्यायकारी इसके मन में बैठता है तो न्यायकारी की न्याय की व्यवस्था के अनुसार मैं <clears throat> अपना ज्ञान अपना कर्म अपनी उपासना को कैसे बनाऊं मैं जैसा ज्ञान उपलब्ध करूंगा फल उसके अनुरूप होगा आपको इस समझ में आया ज्ञान का भी फल होता है या नहीं मानते आप या कर्म का फल ही सोच पाते हो हाँ जी संदीप जी तो समझ नहीं फिर बोलू कर्म का फल कहा जाता है सुना जाता है पर विद्या का फल प्राय इस रूप में नहीं बोला जाता ईश्वर की ओर से विद्या का फल मिलता है ऐसा कुछ ये तो आया समझ कम लोग सोचते हैं विद्या का भी ईश्वर फल देता है या नहीं देता विद्या तो कर्म के अंतर्गत मानेंगे तो उसका फल देगा हम्म? विद्या प्राप्ति भी कर्म ही है अच्छा कर्म हो तो ये विधान क्यों बनाया ज्ञानात मुक्ति और सांख्यकार ने ये पंक्ष क्यों उठाया यज्ञ आदि कर्मों से मुक्ति हो ही जाएगी तो उसने निषेध कर दिया फिर विज्ञान से विज्ञान से न केवल ज्ञान से मुक्ति न केवल कर्म से मुक्ति न केवल उपासना से मुक्ति और उपनिषकार का क्या वाक्य है विद्या क्या पाठ है विद्या कर्मणी प्रारभेते क्या पाठ है विद्या और कर्म का भाग दो आई उन दोनों का फल बतलाया उपनिषकार विद्या और कर्म का अनुवार भेद ऐसा पाठ है कुछ विद्या कर्मणी अनुवार भेद तो वहां देखो हम यदि यह विद्या पढ़ते हैं तो उस काम को फल मिलता है या नहीं उल्टा जान पड़ते हैं मिलता है या नहीं मिलता और विद्या पढ़ते हैं तो उसका भी फल मिलेगा या नहीं मिलेगा मिलेगा विद्यांच विद्यांच यश तदवेदो उभयंश क्या समझ में आया कैसे बैठे मुंह बांधे हुए <laughs> क्या समझ में आया है विज्ञान चा विज्ञान च यस्तद वेदो उभयन से क्यों अविद्या मृत्यु में तीर्थवा अविद्या से तो मृत्यु से तैर जाता है विद्या अमृतम सुनते तो विद्या का फल है या नहीं है हुँ? हम्म? फल तीनों का होता है तो व्यक्ति क्या देखता है मैं यदि सत्य विद्या सत्य ज्ञान का उपार्जन करूंगा रखूंगा तो उसका फल मुझे सुख मिलेगा और यदि मैं अज्ञान को संग्रहित करूंगा अज्ञान में अपने आप को रखूंगा अज्ञान को इकट्ठा करूंगा तो उसका फल मुझे दुख मिलेगा उससे छूट नहीं पाऊंगा फिर वो देखता है मैं कर्म जो करूंगा अच्छे कर्म करूंगा तो अच्छा फल मिलेगा ही और बुरे करूंगा तो बुरा कर्म ईश्वर की ओर से उसका फल मिलेगा फिर वो देखता है मैं अन्यथा विपरीत उपासना जिसकी नहीं करनी चाहिए उसकी उपासना करूंगा तो उपासना का फल मिलेगा ही और अच्छी उपासना करूंगा ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप तो अच्छा फल मिलेगा वो ये देखता और ये सावधान रहता एक अंश उसने लिया रचना करने वाला जो है वह है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होता हुआ न्यायकारी भी है जब वो देखता है न्यायकारी है तो न्याय का संबंध हमारे ज्ञान से है न्याय का संबंध हमारे कर्म से है न्याय का संबंध हमारी उपासना से है तीनों से तो वो सावधान होकर के अज्ञान को हटाता है अज्ञान को उत्पन्न नहीं करता उत्पन्न नहीं होने देता हटाता रहता है ज्ञान को प्राप्त करता जाता है ज्ञान की रक्षा करता है उसको विकसित करता रहता है फिर वो सावधानी से अपनी उपासना को देखता है तो जो ईश्वर के आदेशानुसार उपासना है उसको वो ग्रहण करता है उसका विकास करता है उसकी प्रवृद्धि करता है जो ईश्वर की उपासना से वृद्ध उपासना उसको वो छोड़ता है उसको हटाता रहता है उसको दूर करता रहता है ये इसकी स्थिति चलती जाती है इनको देखना हो तो आप देख सकते हैं एक एक को हमारी मानसिक स्थिति ज्ञान की किसी पदार्थ को हमने देखा या सुना या खाने का है या पीने का है या छूने का है पांच इंद्रियों का विषय पांचों इंद्रियों के विषयों में हम जब ये जानते हैं ये मानते हैं कि इनमें सुख है और ये सुख मेरी तृप्ति कर देगा ऐसा हम जानते हैं यदि ऐसा हम जानते हैं तो ये हमारे अज्ञान के कारण से हमने ऐसा जाना है तो इसका फल हमको भोगना पड़ेगा हमने अज्ञानता के कारण से यह स्वीकार किया है कि इंद्रियों के भोग भोगने से हमारी तृप्ति हो जाएगी ये ज्ञान हमारा काम कर रहा है ये सावधान व्यक्ति क्या करता है ये इस ज्ञान के उत्पन्न होते ही तत्काल रोकता है नहीं ये अज्ञानता से मेरा आभास ज्ञान काम करता है अज्ञानता से मैं इसको सोचता हूं वास्तविकता ये नहीं है इसने उसको हटा दिया तो इसका परिणाम हमको नहीं भोगना पड़ेगा यदि वो नहीं हटाता स्वीकार करता है तो इसका फल उसी को भोगना पड़ेगा कैसे कैसे भोगता है आपने पढ़ा होगा कैसे कैसे जब उल्टा ज्ञान उत्पन्न होता है तो उस उल्टे ज्ञान से उल्टा संस्कार उत्पन्न हो जाता है वेदमणि जी सुनाओ मैंने क्या कहा उल्टा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है इतने से थोड़ा ही काम चलेगा कैसे हो जाता है पूरा सुनाओ आत्मदेव जी से पूछ ले आपके पास बैठे नहीं ध्यान था ना थोड़ा सा था थोड़ा समझ में आ गया आपको आत्मदेव जी क्या कहा उल्टे ज्ञान से उल्टा संस्कार पड़ जाता है हाँ तो वेद मुनि जी तो आप ही आगे निकल गए आज क्या बात है जो उल्टा ज्ञान होता है विपरीत ज्ञान उस विपरीत ज्ञान से उल्टा संस्कार बन जाता है और वो उल्टा संस्कार मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करता रहता है माताएं सो तो नहीं रही हैं क्या समझ में आया जी विद्यासागर नाम है ना है क्या समझ में आया जो उल्टा ज्ञान है व्यक्ति का वो उल्टा संस्कार उत्पन्न कर देता है और, वो विपरीत संस्कार अविद्या को उत्पन्न करता रहता है जब तक संघर्ष करके उसको दबाने देंगे आप हटाने देंगे जब तक अविद्या को उत्पन्न करना वो नहीं छोड़ेगा अब बताओ कितना परिणाम भयंकर दुख आपको भोगना पड़ेगा और इससे जो अधर्म उत्पन्न होगा वो, वो आगे की बात है आपको ये रीति पद्धति तो समझ में आई या नहीं आई बोलो उल्टा ज्ञान है और मिथ्या ज्ञान अर्थात अविद्या है एक ही बात है तो नहीं नहीं नहीं तो पर्यायवाची उल्टा ज्ञान कह दो मिथ्या ज्ञान कह दो अविद्या कह दो विपरीत में विप्रियो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम उल्टा ज्ञान मोटी भाषा बोल दी उल्टा ज्ञान अब पद्धति को आप समझते हैं ये रूपरेखा क्या होती है हमारा ज्ञान जब किसी विषय में विपरीत ज्ञान होता है वो उल्टा संस्कार उत्पन्न करता है और दूसरा मैं लोक में चलूं तो जितने मतमतांतर वाले हैं इनके गुरुओं ने ऐसा पढ़ाया इनके ग्रंथों में ऐसा लिखा है उन्होंने उल्टा पढ़ा दिया जब उल्टा पढ़ा दिया तो इनके सबके उल्टे संस्कार ये तो आया हुआ समझ में कम से अपना नहीं आया हो भाई <laughs> इनके उल्टे संस्कार और उल्टे संस्कारों से अविद्या उत्पन्न होती जा रही है और अविद्या उत्पत्ति के कारण ये सारे उल्टे काम करते चले जा रहे हैं अपना भला ना दूसरों का भला अब आया समझ में नहीं आया कुछ क्यों जी वेद मुनि जी नहीं आया समझ में गुरुओं ने उल्टा उपदेश दिया मिथ्याजान पढ़ाया या इनके ग्रंथों में उल्टा लिखा हुआ है कि इन इन पशुओं को ऐसे मारो खाओ जैसी थोड़ा सा मोटा सा और ये ईश्वर की पूजा के लिए ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अच्छा उपाय है ये पाठ पढ़ा दिया जैसे तो वो उल्टा हुआ और इसके ऊपर आया गया जो हमारे मत को न माने उसको मार डालो छोड़ो नहीं धरती पे ये पाठ पढ़ा दिया फाड़ पड़ा दिया उसको मन में बैठ गया कि भाई जो हमारी बात को नहीं माना उसको मारो काटो तो ये जब तक उसके दिमाग से नहीं हटेगा वो ऐसे ही मारता काटता रहेगा ऐसे ही अधर्म करता रहेगा ऐसे ही ईश्वर की ओर से गदा घोड़ा सूर बन के दंड भोगता रहेगा ये परिणाम निकलेगा अब आपका हिसाब किताब देख लो अपना <laughs> क्यों आप ये सावधान नहीं है आप अविद्या उत्पन्न होती रहती है तो सुंदर रूप सामने आ गया आ गया तो देखने वाला सोचता है ये मेरी तृप्ति करेगा मुझे कृतकृत्य बना डालेगा और इससे मैं दुख से छूट जाऊंगा उसने ऐसा दिमाग बनाया यद्यपि इसमें कारण होते हैं तमोगुण भी कारण होता है पूर्व के संस्कार भी कारण होते हैं उसने ऐसी मान्यताएं पहले स्वीकार की हुई होती है उनके संस्कार भी कारण होते हैं कोई भी कारण तो अनेक होते हैं पर उसने ऐसा मन बनाया तो बनाया तो वो मिथ्या संस्कार बन गया उसका कि ये अत्यंत सुखप्रद है कृतकृत्य बना देता है तो ये संस्कार जब तक बना रहेगा आपके मन में तब तक अविद्या उत्पन्न होती रहेगी अविद्या उत्पन्न होती रहेगी तो आप उल्टा आचरण करते रहेंगे उसको रोक नहीं सकते आप कितना काल लगेगा कितना परिश्रम करना पड़ेगा आपको उस उल्टे संस्कार को रोकने के लिए पर सुप तत्व भी छिन्न अवस्थाएं होती है संस्कारों की उसको जानना एक बहुत बड़ा विज्ञान है और मोटे रूप में संस्कार जाने पकड़े जाते हैं सूक्ष्म रूप में जो संस्कार वो बिना समाधि के पकड़े ही नहीं जाते साधक जी क्या कहा दोहरा लो संस्कार तो सामान्य ज्ञान से पकड़े जाते हैं परंतु सूक्ष्म संस्कार बिना समाधि के पकड़ में आते ही आते ही नहीं पकड़ना वो समझ में ही नहीं आते यदि आते हैं तो किसी में उल्टे आते उल्टी चीज रुटी दिखाई देती है आप एक उदाहरण लेंगे व्यक्ति का आकर्षण प्रेम प्रीति लौकिक सुख और सुख साधनों की ओर देखी जाती है परमात्मा की ओर नहीं देखी जाती उनको वो दुख रूप समझता हो ईश्वर को सुख स्वरूप समझता हो और ईश्वर की ओर झुका रहता हो ईश्वर से प्रीति बनी रहती हो वो उसकी उपासना करता रहता हो ऐसा नहीं है ईश्वर की उपासना छोड़ और लौकिक सुख साधन उनमें वो झुका रहता है उनमें उसकी प्रीति बनी रहती है ये जो प्रीति बनी रहती है क्यों ये अविद्या के कारण बनी रहती उसने देखा अविद्या कैसे उत्पन्न होती है तो उन्होंने देखा कि यह तो तमोगुण से उत्पन्न होती है अविद्या रजोगुण भी उसमें सहयोग देता है अथवा पूर्व संस्कारों से अविद्या उत्पन्न होती है आगे बढ़ो इंद्रियों में दोष आने से अविद्या उत्पन्न होती है तो एक एक बात को वो देखता और बड़ा सावधानी से चलता अत्यंत सावधान रहता तो अपने ज्ञान को ठीक करता रहता है जैसे जैसे ज्ञान में उभार होते हैं कभी तो संशयात्मक कहीं मिथ्या ज्ञान कहीं निर्णयात्मक और कहीं ज्ञान ही नहीं रहता उस विषय का ये लगातार चलता रहता चलते फिरते खाते पीते लगातार चलता तो सावधान व्यक्ति इसका अध्ययन करता जाता है पकड़ता रहता और जो असावधान रहता है उसकी गतिविधियां तो साधारण स्थिति में चलती रहती है सोचता रहता है उचित रूप में विकसित नहीं हो सकता ऐसी स्थिति में नहीं आ सकता वो समस्त दुखों से छूट जाए ऐसी स्थिति में नहीं आ सकता वो नित्यानंद को प्राप्त कर ले ये कोई ऐसी घटना नहीं है जिस घटना को हम ऐसी माने कि ये तो एक सोचने का ढंग है वास्तविकता नहीं है ऐसा नहीं है सोचने का ढंग ही नहीं है ये अनिवार्य रूपरेखा है जीवन की आपको ऐसा ही करना ही पड़ेगा कई लोग सोचते हैं ये तो आपका अपना विचार है आपके हम नहीं मानते कि ऐसा होता होगा <laughs> वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक दिखता है क्यों जी आपको क्या समझ में आता है बताओ तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो भाई अपना विचार है या ऋषियों का विचार है ऐसा होता थोड़ा ही हम नहीं सोचते ऐसा जैसे आप मानते परंतु <clears throat> परमाणु से परीक्षण करने से पता चलता है कि ऐसा ही होता है जब ये पता चल जाता ऐसा ही होता है ये कल्पना नहीं है तब व्यक्ति सावधान होकर कहता यदि ऐसा ही होता है तो मैं ऐसा करूंगा और ऐसा नहीं करूंगा इस परिणाम पर पहुंचेगा यदि ऐसा नहीं मानता हो कहता ये आप अपने विचार है ये उसका सोचने का ढंग है ये अपना ढंग है और फिर कोई वो निर्णय करके पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा एक बार एक ब्रह्मचारी मिले अब पर्वत पर मिले थे ना तो वैसी बातें सारी सुनाते थे और कहते थे मैं किसी एक निर्णय को निर्णय ही नहीं मानता क्या समझ में आया <laughs> क्या बैठे हो बताओ मैंने क्या कहा क्या कहते थे मैं किसी निर्णय को निर्णय ही नहीं मानता अंतिम निर्णय नहीं मानता कैसे जैसे ये स्वामी राम जी ने बात कही है ये अंतिम निर्णय मान माल नहीं ऐसा नहीं है ये उसने ये कही है नहीं नहीं मैं नहीं मानता उसने कही है तो वही ठीक है और वो स्वयं भी अपने ऊपर भी विश्वास नहीं करता <laughs> वो कहता मैं तो सोचता हूं वही सही है मैं ये भी नहीं मानता <laughs> अब क्या करोगे क्यों क्या समझ में आ रहा है आपको ऐसे लोग देखे हैं कभी है जी नहीं देखे एक स्वामी दान सरस्वती जी ने वो व्यवहार भानु में घटनाएं लिखी ना दृष्टान्त लिखे या नहीं लिखे शेख चिल्ली के और उसके, उसके लिखे या नहीं लिखे है जी वो ऐसा जचता था ये ऐसे भी होते हैं क्या लोग जैसे स्वामी जी ने लिखा है <laughs> लाल जकड़ बूझिया और बूझा कोई पग में चक्की बांध के हृणा कूदा हो <laughs> क्यों जी क्या समझ में आया <laughs> कथा तो याद होगी व्यवहार वन की पढ़ते या नहीं पढ़ते सामने रखना आप बड़ी गंभीरता से बड़ी रुचि श्रद्धा प्रीति से महर्षि के ग्रंथों को छोटे बड़े पढ़ते जाओगे तो आप ऐसे ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर लोगे आप को अविद्या अधर्म अन्याय उल्टा समाज परिवर्तित नहीं कर सकता इतना सामर्थ्य आ जाएगा और नहीं तो लुट लुढ़कने की आशंका पदे पदे रहेगी पता नहीं कहां भी जाओगे आप आपको ऐसा दिखता होगा हम यहाँ रहते हैं ऐसा वातावरण है ऐसी बातचीत करते हैं सरल बात है सरल बात है <laughs> मुंबई जैसे नगरों में जाओ कलकत्ता में जाओ वहां रहो दो चार छह दिन और देखो चकाचौंध को आपको ये पता नहीं चलेगा ये दर्शनीय महाविद्यालय क्या होता है <laughs> और मैं कहा खड़ा हूं <laughs> क्या समझ में आया नहीं आया जी ऐसा होगा या नहीं होगा हम्म आप सोचने लगे हम बड़ी भूल मरे ये तो खा पी गए सारा का सारा माल मसाल <laughs> सारा खा पी गए <laughs> ये लोग तो हम तो पीछे इतना पीछे रह गए इतने दिनों से खूब आनंद में रह रहे अब हमें पता नहीं मिल पाएगा नहीं आगे निकल चुके हमसे हम ऐसे कब बन पाएंगे पता नहीं ऐसे सोचने लग जाओगे आप क्योंकि आपने पूर्व पृष्ठभूमि वो पहले की विद्या पहले के वो विचार पहले की सोचने की पद्धति पहले का अभ्यास वैराग्य इतने दृढ़ स्थिति में नहीं बनाए कि आप ये समझ सकें कि ये गलत है ये अनुचित है इनकी मान्यताएं अशुद्ध बन गई हैं ये लोग मिथ्याजान से ग्रस्त हैं ये लोग सुखी नहीं है तो दुखी हैं ऐसा तो देख नहीं पाएंगे ज्यादा ये देख पाएंगे हुँ? हम्म? इतना ज्ञान विज्ञान आपका होगा वो उनकी अविद्या को देख सकें आप उन लोगों की अविद्या को देख सके उनके मिथ्याजान को देख सके उनको अंदर से कलेशों से पिसते भी देख सके एक मोटा दृष्टांत देता हूं शायद आपको समझ में आ जाए है थोड़ा सा रोचक साहब आज के लड़के लड़की जो चलते हैं ना अपने वेशभूषा पहन करके और जिस हाव भाव से चलते देखे ना आपने है जी आजकल की लड़कियां जो चलती हैं एक वेशभूषा निश्चित से रूप में रखती हैं ऐसा पहन लेती हैं ऐसे यहाँ वो चद्दर सी डाल लेती हैं क्या बोलते हैं उसको चुन्नी बोलते हैं क्या देखा नहीं आपने और वो चलती हैं बाजार में इधर जाएंगी घर में भी वही अब आप देख पाएंगे कि उस चुन्नी को उस चद्दर को वो लड़की यहाँ से ऐसे करेगी फिर एक डंग चल के फिर फिर सुधारेगी एक डंग करके फिर वो सुधारेगी एक एक कदम पर वो उसको चुनी को सुधारती जाते इतना दिमाग ये ईश्वर का ध्यान करेगी या उपासना कहाँ से करके कहाँ हटेगी ईश्वर को कब याद करेगी बेचारी कितनी दुखी है ये इसके मन में यही है कि मेरी ये चद्दर ऐसे रहेगी तो बस सब कुछ बेड़ा पार रही थी ऐसे होगी तो नरक में जाऊंगी अब <laughs> और एम ए बी ए आचार्य है वो पढ़ी लिखी कम नहीं है उसकी प्रतिष्ठा मान है उसका दुनिया में अध्यापिका हो सकती है डॉक्टर हो सकती है वही वही उसकी हालत भी है अब ये भी कोई जीवन है क्या इतना कष्ट इतना दुख इस व्यक्ति को बस पूछो मैं और ये व्यक्ति जो आप जैसा जाएगा कि क्या लूट खाया इन्होंने लोग सारा माल मसाला <laughs> ये बड़े दुखी है और तू पीछे रह गया कब जब आप अपनी विद्या को इतनी दृढ़ इतनी ऊंची नहीं बनाएंगे वैराग्य को इतना ऊंचा नहीं बनाएंगे ईश्वर के प्रति इतना विश्वास नहीं होगा आप समाधि का अभ्यास नहीं करेंगे तो आपकी गतिविधि वही बनेगी उन जैसी बनेगी तो सोचने का ढंग देखने का ढंग सृष्टि को देखो ईश्वर की रचना को देखो और वो कितना बुद्धिमान कितना सावधान होगा जो ऐसी रचना करने वाला है और वो भूल ही नहीं करता और हमारी भूल के ढेर पड़े हैं आगे पीछे भूल के बिना कोई काम ही नहीं करते <laughs> भूल के पीछे भूल और भूल कितनी होती है ये पता ही नहीं चलता अब आप इतना भी ध्यान रखते हमसे भूल हो रही है हो सकती है अब आप कैसे सुधर जाओगे नहीं सुधर सकते आप वेदमणि जी आप नहीं सुधर सकते इतने जो आप सावधान नहीं रहते तो ये सावधानी कैसे सीखते हैं हम ऋषियों के ग्रंथों से सीखते वेदों से सीखते हैं और स्वयं अपने प्रयोगों से सीखते जाते प्रयोग करते रहते कब सोचते हैं हम कब उल्टा सोचते हैं कब सीधा सोचते हैं वो क्यों सोचा गया उसको कैसे रोको भाई दिन रात हमारा ये ताना वाना चलता रहता है तब हम समझ जाते हैं और हम अपने आप को ऐसी स्थिति में ले जाते हैं अब मैं पूरा सुखी हूं <laughs> मुझे कोई दुख नहीं सताता ऐसी स्थिति में चले जाते हैं फिर वो कभी देखता तो संसार कहां खड़ा है <laughs> कहते सारे दुखी है <laughs> किसी को देखो वही दुखी क्यों साधक जी जिसको देखो वही दुखी वो एक दृष्टांत सुनाया करते हैं ना भाई बिच्छू की पंक्ति जा रही थी कल्पना की है ना उसने कहा भाई बिच्छू ये बताओ तो मैं सरदार कौन सा है तो कहने के जिसका हाथ लगाओ वही सरदार है लगा के देख लो हाथ <laughs> दिख देखो वही दुखी ये क्या लोगों ने ऐसा बीमारी पाल ली सारे दुखी आपने पढ़ा तो होगा प्रज्ञा प्रसाद मारू ये नहीं पढ़ा याद है या नहीं नहीं भूल गए बहेली आएगा जाल बिछाएगा तंडुल बिखेरेगा छिपके बैठेगा फंसना नहीं <laughs> हमें हाँ, तोते की तरह रटा होगा प्रज्ञा प्रसाद मारू ये संदीप जी बोलते क्यों नहीं है सोचे सोच तो जनान भूमिष्ठान शैल स्थ सर्वान प्राचीन उपस्य थी अब भूल गए बहेली आएगा जाल बिछाएगा तंडुल बिखेरेगा छिप फंसना नहीं वहीं फंसे पड़े हो ऐसी पढ़ाई का नाम इसका नाम विद्या थोड़ा ही है जब आप इस विद्या को धरती पर उतारोगे समाधि की स्थिति में तब ये प्रज्ञा प्रसाद मारू ये प्रजा रूपी विकास को प्राप्त होकर के ऐ सोचिए कलेशों से रहित सोच तो जनान कलेशों में पिसते हुए जनों को वो देखता है सांसारिक जनों को जैसे चोटी पकड़ा व्यक्ति तल वाले को देखता ये चित्र खींचा क्या इसमें कोई संदेह है क्या आपको क्यों संदेह क्यों संदेह है संदेह उस अवस्था में नहीं है आप एडी से चोटी तक उसको प्राप्त करना चाहते हैं नहीं तो संदेह कहीं न कहीं बैठा होगा <laughs> ये भी याद रख लेना वो है बीच बीच में आता है और दबा देता आपकी इसलिए सोचने का ढंग अपने जीवन को सफल बनाने का ढंग पद्धति ये सब सीख लेनी चाहिए इससे हम आप सब चाहते हैं सारे दुखों से छूटे और सुखों को प्राप्त करें फिर हम ये भी चाहते हैं कि समाज को राष्ट्र को देन दें ये कार्य हमारे पूरे हो जाएंगे यदि हम ऐसा नहीं करते तो न स्वयं छूट पाएंगे न समाज को छुड़ा पाएंगे परिणाम ये निकलेगा इसलिए विफल हो जाओ और विफल बना दो समाज को और सफल हो और समाज को सफल बना दो अब विराम आपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा वेद मंत्र की जो व्याख्या है वो सुनी सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों को व्यक्ति पढ़ता रहे तो बहुत बुद्धिमान बन जाता भाषा का विज्ञान कम होने से रुचि कम होने से सिद्धांतों का ज्ञान कम होने से और ये समाज का सत्संग न करने से ये सत्यार्थ प्रकाश समझ में नहीं आता यदि आप विद्वानों का सत्संग करते हैं आपकी भाषा अच्छी है हिंदी भाषा आपकी अच्छी है जब हिंदी भाषा के राष्ट्रीय भाषा के जब ऊंचे स्तर के शब्दों का प्रयोग होता है वो संस्कृत के बहुत है उसमें और जब वो शब्द आते हैं तब व्यक्ति वो इसकी हिंदी नहीं समझ पाता संजा संजी क्या समझे आप क्या मतलब संज्ञा और सिंजी दोनों शब्दों का क्या अर्थ है संज्ञा नाम और नामी एक बात को याद रखिए बार बार पढ़ने से भी समझ में आता है फिर पढ़ो फिर पढ़ो पढ़ते ही जाओ पढ़ते ही जाओ थोड़ी भाषा जानने वाला प्रसंग आता रहता है और बात समझ में आती जाती अब देखो मैंने बारह खड़ी पढ़ी थी और ऐसे जैसे पढ़ लेते ना मिला के अक्षरों को इतना मुझे पढ़ना आता था तब भी सत्यार्थ प्रकाश को बार बार पढ़ने से इसकी बातें समझ में आ जाती थी ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका जो संस्कृत ऊपर नीचे हिंदी है उसकी भी बार बार बात समझ में पढ़ने से उसकी भी समझ में आ जाती थी फिर संस्कार विधि उसको भी पढ़ने से उसकी बात भी सारी बात नहीं करता बहुत सी बातें समझ में आ जाती ध्यान दो जिस समय ये व्यक्ति गहराई में जाता ईश्वर की अनुभूति होती उसमें एक ऐसी स्थिति आती है जीव आत्मा अपने को भी भूल सा जाता है क्या समझे आप और ये स्थिति आती है न तो कोई जीवात्मा नाम की चीज है अलग से न कोई संसार नाम की चीज है केवल ईश्वरी है ये बात उभर के आ जाती है बताओ क्या करोगे उस अवस्था मुझे याद है जब मैं इसको पढ़ता था और मैं देखता था तो ये जो पंक्ति आती थी जैसे कि भाई जीवात्मा जो है वह जो ईश्वर नहीं हो सकता क्या समझ में आया तो जैसे संदेह उत्पन्न हुआ और फिर सत्यार प्रकाश को पढ़ा जैसे उसमें लिखा है ना ईश्वर जो है अलग पदार्थ है और जीवात्मा अलग पदार्थ है मैं जब ऐसी पंक्ति पढ़ता तो ये बात सुलझाने में सहायता मिलती देखो हम तो आंख नाक नहीं बना सकते और हम ईश्वर कैसे हो सकते हैं तो उस समय सत्यार प्रकाश से सहायता मिलती थी फिर ऋग्वेदादी भाषा भूमि का उसको मैं पढ़ता उससे मुझे सहायता मिलती थी ये कब की घटना है जबकि मैं गांव में रहता था भाषा इतनी तो थी बारह खड़ी भाषा बोलनी लिखनी जैसे लिखनी भी आती श्रद्धा पूर्वक बार बार पढ़ने से ये ग्रंथ समझ में आते और जैसे जैसे ये समझ में आते हैं इनमें जैसा आनंद आता है दर्शनों को भी रख लीजिए वेद को रख लीजिए और जितने संसार के ग्रंथ हैं उनमें कोई आनंद रस नहीं आता जैसा इन ग्रंथों में रस आता कितनी बार पढ़ो योग दर्शन को पढ़ते पढ़ते मुझे पता नहीं चालीस वर्ष हो गए या कितने मुझे याद नहीं आज ने मैं उबता हूँ पढ़ाने में पढ़ने में उबता हूँ और आप वो भी बैठे रहेंगे स्वामी जी ने जो बात कल कही थी वो याद कह दी उब गए होंगे आप <laughs> या नहीं सत्यार्थ प्रकाश में तीन पदार्थ अनादि हैं तीनों की व्याख्या है वही सत्यार प्रकार आज जितना पढ़ो उतना ही ज्ञान विज्ञान जितना पढ़ो उतना ही ज्ञान विज्ञान बड़ी गवेषणा कितना ज्ञान विज्ञान है सारी समस्याओं का समाधान आप सत्यार प्रकाश को कौन कौन पढ़ते हैं हाथ खड़ा तो करो है तो कुछ लोग माताएं कम है शायद अच्छा सत्यार प्रकाश में ये लिखा है वाक्यार्थ बोध में चार कारण होते हैं कितने जो इन चार बातों को जान के ग्रंथ को पढ़ता और उपदेश का उपदेश सुनता उसको उसका अभिप्राय समझ में आता है नहीं तो नहीं आता अब आपकी परीक्षा ले लेता हूं मैं थोड़ी सी कौन देने के लिए तैयार है परीक्षा आप देने के लिए तैयार है चार में से दो बता सकते हैं आकांक्षा एक आप बताएंगे इनका नाम लेंगे आप आकांक्षा का क्या अर्थ है आकांक्षा एक योग्यता दो आसक्ति तीन तात्प्रिय इनकी परीक्षा करेंगे पढ़े लिखे ऊंचे स्तर पर अध्यापक रहे ना एक और योग्यता बुद्धि और आसक्ति दो तीन और तात्प्रिय सौ में से पच्चीस आए पचहत्तर खत्म क्या समझ में बोलो पच्चीस अंक और पचहत्तर इतना आया और कोई बोलना चाहे इनका तो हो गया हिसाब और इनकी महिला हो गई और बोलो तो कोई हाँ और डरते क्यों हो परीक्षा से हैं हाँ <laughs> अरे आप बोलेंगे आकांक्षा आगे आ जाओ थोड़ा आकांक्षा का अर्थ करो आओ आओ कोई बात नहीं आकांक्षा का जैसे इन अर्थ सुना आप भी सुनाओ क्या अर्थ समझे हाँ बताइए बताइए हाँ। वही बताओ आप वही बलात् नहीं आपसे पूछना आत्मा और ईश्वर और प्रकृति को जानने की तीव्र इच्छा एक और योग्यता

हाँ, हाँ। वो उनके पच्चीस है आपके पच्चीस भी नहीं आए क्षेत्र अलग अलग है ना आ, हाँ, आप बोलो बोलो आप पढ़ना लिखना नहीं है हाँ इसमें नहीं पढ़ना आपने अर्थ करना है पढ़ा के थोड़ा बोल के थोड़ा ही सुनाना है लिखे हो नहीं सुनाना याद हो तो बोलो नहीं तो नहीं मौखिक परीक्षा है इसका क्या मतलब जैसे उदाहरण से दो कोई फिर इसका क्या मतलब यहाँ पर <laughs> परीक्षा उनकी चल रही है बीच में सहयोग नहीं देना हाँ बोलिए हाँ सहयोग नहीं दो ऐसे तो भाई तो सारे बोलने लग जाएंगे और तीसरा दो ही बताने दो ही बताए दो ही बताए <laughs> चलो चलो थोड़ा सा आपका परीक्षण हो गया पता चला है सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथ पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान विद्वान बनता और समस्याओं का समाधान ढूंढ डालता परंतु एक भाषा विज्ञान है ये ये प्रकरण जो है भूमिका का प्रकरण याद रखना ये लौकिक बातों से संबद्ध नहीं है नहीं लोक में आकांक्षा इच्छा को कहते हैं उससे संबद्ध नहीं है जो आपने उत्तर दिया योग्यता जो आपने बताई उससे ये संबद्ध नहीं है व्यक्ति की योग्यता नहीं है